الله الرحمن الرحيم وتشبيه وجوه الإعجاز بألف الأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية وإثبات الأستار لها تخيلية وذكر الوجوه إيهام اوپر मतन کے اندر आया ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن استارها और एजाज के चेहरों से एजाज के चेहरों से कुरान की नज्म में उसके पर्दों को हटाया जाता है एजाज के चेहरों से कुरान की नज्म में उसके पर्दों को हटाया जाता है किसके जरिए आगे निकाला आई बी यानी इल्म बलागत के जरिए में तो अब यहाँ पर इसके बारे में ये फरमा रहे हैं शार रहमा सारा रहमा कौन है अबू याकूब यूसुफ सत्ता के रहमत आल कौन है, है? अल्लामा तब्ता जान रहमत आल वो फरमा रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीर है और तस्वीर की इन्होंने कई किस्में बयान की है फरमाते हैं व तशबी वजूह एजाजी और वजूह एजाज को तशबी देना बिल अशियाबती छुपी हुई चीज़ों के साथ कहाँ ताल अस्तारी पर्दों के नीचे पर्दों के नीचे छुपी हुई चीज़ों के साथ एजाज के चेहरों को वजूह एजाज को तशबीह देना इसके अंदर आरा बिल किनाया है और अस्तार को पर्दों को उसके लिए साबित करना तखीलियत ये इश्तार है तखीलिया है वजिक्रवजूह ईहाम और वजूह का जिक्र करना इसके अंदर ईहाम आगे समझ में बात आएगी देखो पहले तो ये समझो हकीकत और मजाज हकीकत किसको कहते हैं हकीकत कि लफ्ज अपने असली माना के अंदर हो जैसे है? जैसे दरख्त है दरख्त दरख्त के माना दरख्त जिसे कहा जाए कि मैंने दरख्त काटा दरख्त को काटा तो यहाँ पर दरख्त अपने ही असली माना के अंदर है ठीक है दरख्त और कहा जाए कि मैंने अनार का दरख्त खाया अनार के दरख्त को खाया या अनार के दरख्त से खाया तो उस वक्त में यह नहीं होगा कि उसकी जो लकड़ियाँ हैं उसको खाई बल्कि क्या मतलब होगा कि जो उस पर अनार लगा हुआ है उस अनार के अंदर जो दाने हैं अनार उस अनार के दानों को खाया तो यहाँ पर अगर कोई कहे कि मैंने अनार का दरख्त खाया तो उस वक्त में क्या माना होंगे बुराज मजाजी माने यहाँ पर लिए जाएंगे कि अनार ये लकड़ी नहीं खाई बल्कि उसके जो फल है उस फल को खाया तो हकी माना क्या है दरख्त को खाना और मजाजी माना क्या है उसके फल को खाना जैसे तुमने उसी के अंदर अनबार के अंदर कहीं कोई मिसाल आई होगी इस तरह की हकीकत और मजाज की क्या आई वहाँ पर दरख्त के बारे में आई ना कुछ मिसाल उसी में क्या है अकल तो रहा था मैंने दरख्त खाया तो मैंने दरख्त खाया तो दरख्त नहीं खाया जाता यहाँ पर इसके हकीकी माना नहीं होंगे बल्कि इसके मजाजी माना होंगे कि उसका जो फल है उसके फल को खाया इतने बात समझ आई अब अगर उस मजाज के अंदर तशबीह का अलाका हो तशबीह पाई जा रही हो तो उसको कहते हैं इश्तेहारा मजाज में तशबी हो तो उसको इस्तारा कहते हैं अब तस्वीर किसको कहते हैं तस्वीर कहते हैं मुशावे होना मुशावे करना किसी चीज एक चीज को दूसरी चीज के मुशावे बदलाना एक चीज को दूसरी चीज के मुशावे बदलाना जैसे जेद शेर की तरह जेद शेर की तरह है तो जेद शेर की तरह है यहाँ पर ये तस्वीर है यानी जेद को शेर की तरह होने को बतलाया जा रहा है कि जेद जो है वो शेर की तरह है इसके अंदर कई चीज़ें होती हैं एक होता है मुशबा एक होता है मुशबा बिही एक होती है वजह शिव और एक होता है हरफ तस्वीर जैदुन कल असदी जैद शेर की तरह है जैदुन कल जैदुन कल असदी जैद शेर की तरह चार चीजें होती हैं एक होता है मुशब्बा मुशब्बाहन इसको तस्वीर दी जाए इसमें मकौल मुशब्बा जिसको तस्वीर दी जाए मुशब्बा भी जिसके साथ भी उसके साथ जिसके साथ तस्वीर दी जाए जिसके जैसा होने को बताया जाए जिसके साथ तस्वीर दी जाए और एक हर्फ तस्वीर जिस हर्फ के जरिए तस्वीर दी जाए और चौथी चीज है चौथी चीज है वजह शिव कि जिस चीज की वजह से तस्वीर दी जाए अब यहाँ पर चार चीजें समझो जईदुन कल असदी जैद क्या बनेगा जैद को तस्वीर दी गई है जैद क्या बनेगा मुशब्बा और शेर की तरह है और शेर क्या बनेगा असद मुशब्बा भी क्योंकि जैद को शेर की तरह बदलाया गया है है ना शेर के साथ तस्वीर दी गई है और इसके अंदर जो काफ आ रहा है काफ ये क्या बनेगा है हरफ तस्वी काम बनेगा हरफ तस्वी इसलिए क्या इसके जरिए इस हर्फ के जरिए तस्वी दी जा रही है इस हर्फ के जरिए वेद को शेर की तरह होने को बदलाया जा रहा है वजह शिव क्या है वजह शिव है बहादुरी बहादुरी की वजह से तस्वीर दी जा रही है कि जेद ऐसा बहादुर है जैसा कि शेर ऐसा नहीं कि उसके जो है बड़े बड़े बाल होते हैं शेर के और वो जो है छलांग लगाता है और ऐसा है वैसा है इस चीज़ में उनके वजह से भी क्या है वजह से भी यहाँ पर बहादुरी है तो ये चार चीज़ समझ में आ गई चलो अब देखो ऊपर मैंने इश्तार की तारीख लिखी है प्यारा वो मजाज है जिसमें तशबीह का अलाका हो और हकीकी माना मुराद लेने से माने कोई करीना हो हकीकी माना मुराद लेने से माने कोई करीना हो इस्तारा वो मजाज है जिसमें तशबीह का अलाका हो यानी उसके अंदर तशबीह पाई जा रही हो और उसके हकीकी माना न ले सकते हैं उसके अंदर रुकावट हो जैसे आयत पेश की किताब अनजलनाहूलनासूर किताब कुरान ये ऐसी किताब है का जिसको हमने नाजिल किया है आपकी तरफ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों रिजन नासा ताकि आप लोगों को निकालें कहाँ से मिनूरी तारीखियों से रोशनी की तरफ तारीखियों से रोशनी की तरफ तो तारीखियों से रोशनी की तरफ निकालें कुरान करीम तो एक किताब है इस किताब को अगर अंधेरे में कर दिया जाए तो क्या रोशनी हो जाएगी नहीं होगी मतलब क्या है कि गुमराही तारीखी यहाँ पर इसके असली माना जुलूमात के असली माना जो है तारीखी उसको नहीं ले सकते तो यहाँ दूसरे माना लिए जाएंगे और वो दूसरे माना क्या होंगे गुरुमात के हाँ, दूसरे माना होंगे उसके जलाल यानी गुमराह इसी तरह नूर रोशनी का माना ले सकते तो यहाँ पर माना होंगे हिदायत क्या आप लोगों को गुमराही से रोशनी यानी हिदायत की तरफ निकाले पुराने करीब हमने इसलिए नाजिल फरमाया है ठीक है अब यहाँ पर किताब को सामने लेकर आओ इसके अंदर ये फरमाया एक तस्वीर ये है अरे इतनी बात समझ में आ गई होगी इश्तारा बिल किनाया का लफ्ज आया इसमें और एक आया इस्तार तखीलिया और एक, एक क्या आया इहाम आया हम्म तीन आया ना इस्तारा बिल किनाया वो है जिसमें मुशब्बा को जिक्र किया जाए और मुशब्बा बी को हजम कर दिया जाए इस्तारा बिल किनाया वो है वो इस्तारा है जिसमें मुशब्बा को जिक्र किया जाए और मुशब्बा बी को हजम कर दिया जाए जैसे यहाँ पर है इबारत में देखो युकशफ आन वजूही फी नज़म कुरानी अस्तारुहा एजाज तो के चेहरों से नज़म कुरान में उसके पर्दों को हटाया जाता है एजाज के चेहरों से हटाया जाता है इसको तस्वीर दी है किसके साथ अशियाए मुहतजीबा के साथ छुपी हुई चीज़ों के साथ छुपी हुई चीजों के साथ अरे पर्दे काय पे से हटाएंगे जो चीजें छुपी हुई होंगी उसी पे से तो हटाएंगे जो चीजें छुपी हुई होंगी उसी पे से तो हटाएंगे या कोई चीज जाहिर है उस पर से ही पर्दे हटाए जाएंगे तो यहाँ पर जो तस्वीर दी है वजूह एजाज को वो तस्वीर दी है छुपी हुई चीजों के साथ लेकिन जिक्र किसका क्या युग शकवान वजूह एजाजी अशियाए मुहतजिबा छुपी हुई चीज़ें इनका जिक्र नहीं किया ठीक है तो तशबीह दी वजूह एजाज को किसके साथ अशियाए मुहतजिबा के साथ छुपी हुई चीज़ों के साथ ठीक है वजूह एजाज क्या हुआ मुशबा या मुशबा भी वजूह एजाज मुशबा हुआ या मुशबा भी मुशबा हुआ है ना क्योंकि इसको तस्वीर दी गई है किसके साथ तस्वीर दी है अशिया महतजिबा यानी छुपी हुई चीज़ों के साथ तो अशिया महतजिबा ये क्या हुए मुशबा भी ठीक है अगर मुशबा भी को हल्फ कर दिया जाए और सिर्फ मुशबा को जिक्र किया जाए तो उसको इस्तारा बिल किनाया कहा जाता है ठीक है उसको इस्तारा बिल किनाया कहा जाता है और यहाँ पर इसी तरह है कि यहाँ पर वजूह एजाज को जिक्र किया और अशिया महतजीबा को जिक्र ना किया जिस चीज़ के साथ में तशवीह दी जा रही है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर वजूह एजाज के लफ्ज लाने में इस्तारा बिल किनाया होगा आगे हाँ, व तशबी वजूहिल एजाजी बिलशियाबती तहतल अस्तारी इस्तारतन बिलकिनायती और वजूह एजाज को तशबी देना छुपी हुई चीज़ों के साथ पर्दों के नीचे छुपी हुई चीज़ों के साथ इसके अंदर इस्तारा बिल किनाया है इसलिए के मतन के अंदर मतन के अंदर मुशबा को जिक्र किया है और मुशबा भी को जिक्र नहीं किया है और जहाँ पर मुशबा को जिक्र किया जाए और मुशबा भी को जिक्र न किया जाए तो उसको इफ्तारा बिल किनाया कहा जाता है चलिए व इस बातारी लहा तखीलियत और पर्दों को अस्तार को उसके लिए साबित करना ये तखीलिया इस्तार तखीलिया है इस्तार तखीलिया किसको कहते हैं मुशबा भी के लाजिम को मुशबा के लिए साबित किया जाए मुशबा भी के लाजिम को मुशबा के लिए साबित किया जाए देखो यहाँ वजूह एजाज से नज्म कुरान में उसके पर्दों को हटाया जाता है अस्तार अस्तार ये क्या है लाजिम है किसके लिए पर्दे लाजिम किसके लिए है मुशबा बिही के लिए लाजिम है पर्दे अच्छा मुशबा बिही क्या है अशिया मुहतजीबा छुपी हुई चीज़ें और जो चीज़ें छुपेंगी छुपी हुई चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है पर्दे का होना बगैर पर्दे के तो कोई चीज़ छुपेगी नहीं है ना तो मुशबा बिही के लाजिम को जिक्र कर दिया जाए है ना मुशबा भी के लाजिम को मुशबा के लिए साबित किया जाए तो यहाँ मतन के अंदर मुशबा भी तो जिक्र नहीं किया लेकिन मुशबा भी के लिए जो लाजिम है मुशबा भी के लिए जो लाजिम है उसको मुशबा के लिए साबित किया है यहाँ पर है आजाद से चेहरों से नजम कुरान में उसके पर्दों को खोला जाता है तो अस्तार यहाँ पर साबित क्या है किसके लिए मुशबा के लिए और ये क्या है मुशबा भी के लवासिमात में से है मुशबा भी के लवासिमात में से कैसे मुशबा भी क्या है अशिया महतजीबा और अशिया महतजीबा यानी छुपी हुई चीज़ों के लिए लाजिम है पर्दे का होना तो यहाँ पर अशिया यहाँ पर जो अस्तार का लफ्ज लाकर इन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया है कौन सा इस्तारा है लिया अरे सलेमान तेरे भी कुछ पल्ले पड़ जाते हो तेरे तो ज्यादा पड़ गई होगी लेकिन जहन कुछ देर तक फ्रेश कर क्या चलो दो हो गए वजू ही इहाम और वजूह का जिक्र करना इहाम है वजूह वजहन की जमा है जिसके माना है चेहरा अरे किसी से भी पूछ लो जो थोड़ी बहुत अरबी जानता हो भाई वजू वजहन की जमा है वजहन का माना चेहरा इसके दो माना है एक माना है करीबी एक माना है बाईदी तीन लफ्ज के दो माना हो एक करीबी माना और एक बाईदी माना करीबी माना कि जिसको सब लोग जानते हो और जल्दी से उसकी तरफ जहन मुंतकिल हो जाता हो और एक होता है बैदी माना कि जिसको सब लोग नहीं जानते और उसकी तरफ जल्दी से जहन भी मुंतकिल नहीं होता जिसका दूसरा नाम तोरिया भी हुआ करता है तोरिया को तो सब जानते ही होंगे जैसे है क्या एक वो है ना हजरत इब्राहिम सलाम का वाक़ तो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी को क्या कहा था कि ये मेरी बहन बीवी थी लेकिन बहन कहा था बादशाह से बचाने के लिए क्योंकि वो क्या करता था वो गलत है इसी तरह एक मरतबा मौलाना कासिम साहब नानोदी रहमत होगा मशहूर वाक़ है उनको जो है लोग ढूंढ रहे थे पुलिस वाले क्योंकि वो आज़ादी की उसमें लगे हुए थे मुहिम के अंदर और कोशिश के अंदर अब उनको देखने के लिए गए किसी ने बता दिया होगा कि वो मस्जिद में है मस्जिद में गए तो वहाँ मस्जिद के अंदर जैसे वो लोग पहुंचे तो जिस जगह पर थे उस जगह से दूसरी जगह पर हो गए उनसे पूछा सीधे साधे आदमी थे ऐसी लुंगी उंगी डाल ली और बस नहीं देहाती की तरह तो उनको कौन पहचाने के इतना बड़ा काम ये आदमी कर रहा होगा और जब उनसे पूछा कि हाँ अभी तो यहीं पर ही थे तो उन्होंने इसके अंदर तोरिया इस्तेमाल किया जैसे अभी यहाँ थे अब जैसे वो आए तो यहाँ से जो है यहाँ को आ गए या उन उनके आने से पहले यहाँ आ गए यहाँ भी वो कासिम नानोदी मौलाना कासिम कौन है कि अभी तो यहीं थे थे वहीं पर ही थोड़ी देर पहले लेकिन अब नहीं है तो उनने समझा कि शायद अभी निकल कर चले गए कहीं नाना हुआ तो ये क्या हुआ तोरिया और इसको कहते हैं इहाम के करीबी माना को छोड़कर बहरी माना मुराद लेना यहाँ पर युक्षक आन वजूजाजी फी नजमिल कुरानी एजाज के चेहरों से एजाज किसको कहते हैं वो जो चाय बनाते हैं मदरसे के अंदर और पानी वानी लगाते हैं चमन बंदी का काम में लगा हुआ है दोपहर में रस्सी पे बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं एजाज कहते हैं उसका नाम है एजाज लेकिन खुद तो एजाज नहीं एजाज कहते हैं ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से कुरान करीम की बारीकियाँ और उसकी फसाहत और बलागत वो सब चीज़ें ज़ाहिर होती हैं तो उन चीज़ों कहते हैं एजाज क्योंकि वो मुजिज़ हैं आजिज कर देने वाली हैं तो अब देखो एजाज के चेहरों से यहाँ पर ये माना नहीं यहाँ पर है इसका बैदी माना एजाज के तरीक़ों से एजाज के रास्तों से क्या किए जाते हैं कुरान करीम की नज्म के अंदर उसके पर्दों को खोला जाता है उसके पर्दों को खोला जाता है यानी एजाज के जो तुरुक हैं रास्ते हैं कि जिनसे कुरान करीम का मोजिज़ होना पता चलता है तो उसके जो पर्दे हैं उनको हटाया जाता है कैसे इस इसमें बरागत के जरिए से तो यहाँ पर इससे करीबी माना चेहरे के मुराद नहीं बल्कि बहीदी माना मुराद होंगे जिक्रवजूही इहामुन वजूह का जिक्र करना इहाम है यानी इसके अंदर करीबी माना मुराद नहीं बल्कि बहीदी माना मुराद है बज गया चार पक्का चार बजे वहीं बढ़िया वहीं अभी तो यहाँ पर कितना हुआ डेढ़ी लाएंगे बरकत नहीं हो रही अरे समझ में तो आ रही है बस समझ में आनी चाहिए चाहे हो एक लाइन चाहे हो डेढ़ लाइन आओ एक तो ये हो गया दूसरी तशबीहुल एजाज बिस्वर हसनती इस्तारतन बिलकिनायती एक तो यहाँ पर तशबी दी थी एक तोजी और एक सूरत तो यहाँ पेश की थी कि तशबी वजूह एजाज बिलशियामतजबती तख्तल अस्तारी यहाँ पर वजूह एजाज को तशबी दी थी छुपी हुई चीज़ों के साथ पर्दे के नीचे छुपी हुई चीज़ों के साथ अब यहाँ पर वजूह एजाज को तशबी दी है खूबसूरत चेहरों के साथ सूरतों के साथ है ना लेकिन यहाँ पर जो असवर हसना है मतन के अंदर उनको जिक्र नहीं किया गया है मतन के अंदर उनको जिक्र नहीं किया जिनके साथ तस्वीर दी है मुशबा क्या है वजूह आजाद और मुशबा भी क्या है असवर हसना खूबसूरत चेहरे खूबसूरत चेहरे खूबसूरत सूरतें शक्लें तो यहाँ पर तस्वीर दी है किसके साथ में हाँ, खूबसूरत सूरतों के साथ में लेकिन असवर हसना का जिक्र नहीं किया सिर्फ मुशबा का जिक्र किया मुशबा भी का जिक्र नहीं किया तो यहाँ पर इश्तारा खिलाया हो गया तो बिल खिलाया इश्तारा बिल खिलाया तो समझना करना पड़ा वह इस बात वजूही लहु तफजीली सुन और वजूह का उसके लिए साबित करना तफीलिया है वजूह का उसके लिए साबित करना क्या है इसके अंदर चार है तफजीलिया है मुशब्बा क्या आया था तखीलिया में मुशब्बा भी के लाजिम को मुशब्बा के लिए साबित करना यहाँ पर मुशब्बा भी क्या है असवरुल हसाना खूबसूरत हसीन सूरतें जैसे के घूंघट वाली बीवी तो देखो मुशब्बा भी क्या है असवर हसाना इसके लिए लाजिम क्या है ये बताओ इसके लिए लाजिम क्या है अरे खूबसूरत खूबसूरत सूरतों के लिए लाजिम क्या है चेहरों का होना खूबसूरत सूरतों के लिए लाजिम क्या है चेहरों का होना ठीक है तो अब यहाँ पर वजूह को किसके लिए साबित किया मुशब्बा के लिए है? ना ना अरे वह इसबातुलवजूरी लहू और वजू को उसके लिए साबित करना इशार दिया है मुशबा बिही के लाजिम को मुशबा के लिए साबित करना मुशबा क्या है वहाँ है मुशबा वजू बिल अन वजूहिल एजाज ये है ना वजू एजाज ये है मुशबा और मुशबा बिही क्या है स्वर हसना इसके लिए लाजिम क्या है वजू का होना ठीक है जो लाजिम है अब लाजिम को साबित कर रहे हैं किसके लिए मुशबा के लिए यानी वजूद एजाज के लिए तो मुशबा के लिए मुशबा भी के लाजिम को साबित करना इसको क्या कहते हैं इससे आ रहे तफीरिया कहा जाता है अरे पल्ले में आगे कुछ बात दिवाली नहीं है ना कैसे लग रहा अरे आई या कमाई क्या ही नहीं आई तो बताओ ना आई तो बताओ कमाई तो बताओ नहीं आई ना देख सकते समझ लो इस बात ही लहू तकीलियत वजूह को साबित करना उसके लिए किसके लिए मुशब्बा के लिए बुजुर्ग साबित करना मुशब्बा के लिए है भजन की जमा वजू अरे लफ्ज वजू इसको साबित कर रहे हैं मुशब्बा के लिए तो मुशब्बा के लिए किसको साबित करना वजूह को चेहरों को साबित करना और ये वजूह जो है वजूह जो साबित किए हैं मुशबा के लिए ये वजूह क्या है लाजिम है किसका मुशबा भी का मुशबा भी के लिए लाजिम है और मुशबा भी क्या है सूर हसना यानी अच्छी सूरत के लिए क्या लाजिम है चेहरे का होना लाजिम है तो लाजिम को मुशबा भी के लाजिम को मुशबा के लिए साबित करना इसी का नाम क्या है इश्तार है तफीलिया है तो यहाँ पर पूजो का जिक्र करना ये चार तफीलिया है ना स्वर हसन लहू की जमीन स्वर हसना की तरफ थोड़ी लट रही है हाँ। मुशब्बा के लिए मुशब्बा को जो आजाद ये तो मुशब्बा भी है अब मुशब्बा भी का जो लाजिम है वजूह उसको साबित करना है उसका नाम जो चाह रहे तखीलिया हुआ करता है अरे आप तो कुछ पल्ले पड़ गई होगी थोड़ी बहुत है ठीक है वजिक्र अस्तारी तरशीह एक नई चीज आ गई और अस्तार का जिक्र करना यह तरशीह है पर्दों का जिक्र करना यह तरशीह है इख्तियार तरशीहिया जिसमें मुशबा भी के मुलायम यानी मुनासिब को जिक्र किया जाए जिसमें मुशबा भी के मुनासिब को जिक्र किया जाए मुशबा भी क्या है स्वर हसना और स्वर हसना के लिए मुनासिब और मुलायम और मुनासिब क्या चीज़ है पर्दों का होना जब अच्छी सूरत है तो उसको पर्दों में रखा जाए है ना उसके लिए मुनासिब क्या है कि पर्दे को डाल दिया जाए सलमान के चेहरे पर है ना बहुत अच्छा है चेहरे पर हाँ है काम तो देखो अस्तार का जिक्र करना यहाँ पर तरशीह तरशीह का मतलब मुशबा भी के मुनासिब को जिक्र किया जाए मुशबा भी को जिक्र किया ही नहीं अरे मतन में तो है नहीं मुशबा भी ही सुअर हसना लेकिन इसका जो मुनासिब है पर्दों का होना घूंघट का होना दुल्हन के चेहरे पर उसको जिक्र किया है अस्तार को वनजमुल कुरानी चलो यहाँ तक से तो ये बात होगी वह जिक्र अस्तार तरशीफन और अस्तार का जिक्र करना तरशीफ ये जो इस प्यारे की किस्में है ये सारी की सारी आती है इल्म बयान के अंदर यहाँ तो ये इन्होंने इस तरह जिक्र कर दी इसी वजह से ये सारी की सारी तकदीर करनी पड़ी अब आगे चलो ये तो बात हुई व नज़मुल कुरान तालीफ कलिमाती मुरतबत मानी मुतनासिकत दलालाती आला हसबी मा यकतवी अक़ल ला तवालिहा फिनतकी वज़मनी बाज़िहा इला बाज़िन कैफ मुतफ़ यहाँ पर आया था नज़म कुरान युसफ़ानजूजाजी फी नज़म क़ुरान अजार तो नज़म क़ुरान किसको कहते हैं उसकी तारीफ फरमा रहे हैं नज़म के माना आते हैं पिरोना यहाँ नहीं कहा लफ्ज कुरान नहीं कहा फी लफ्ज कुरान ही नहीं कहा बल्कि क्या कहा कुरान लफ्ज माना आते हैं क्या अरे क्या आते लगते माना है तो तो बताओ लफ्ज माना आते हैं तो ये लफ्ज कुरान के साथ में जिक्र करना जरा मुनासिब नहीं था तो यहाँ पर जिक्र क्या है नज्म नज्म कुरान नज्म कुरान किसको कहते हैं उसकी तारीफ भी आगे फरमा रहे हैं के कलिमात को इस तरह जमा करना कि उनके मानी मुरतब हों सलीक़े से हों और जैसी इबारत लानी चाहिए जैसे अल्फाज लाने चाहिए इस तरह से अल्फाज और कलिमात को लेकर आना इसको कहते हैं नज्म नज्म कुरान दलालत मुताबकी दलालत तजमुनी दलालत इंतजामी इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ कौन सी दलालत इस्तेमाल होगी कुरान करीम के अंदर सब कुछ है और कहाँ पर कलाम को ताकीद के साथ लाया जाए कहाँ पर बगैर ताकीद के लाया जाए तो इस तरह से सारी चीज़ों की रियायत करना इसको कहते हैं नज्म नज्म कुरान उसी को फरमा रहे हैं नज्म कुरान क्या है वह नज्म कुरानी और नज्म कुरान ताली कलिमाती ही मुरतबातिल मानी हुई इल्म बलागत की क्या हो इसके अंदर रियायत हो नज्म कुरान वो उसके कलिमात को कुरान की कलिमात को जमा करना है मुरतबतमानी इसके मानी मुरतब हों तरीक़े से हों मुतनासिकत दलालत आला हजबी मा यकजी दलालतें अक़ल के तकाजे के मुताबिक मुनासिब दलालत अकल के तकाजे के मुनासिब मुताबिक मुनासिब हो मुनासिब और मुसावी हो क्या मतलब दलालत जो भी दलालत उसके अंदर हो मुताबकी हो खा तजमनी हो खा इंतजामी हो तो वो अकल के तकाजे के अंदर देखो तो उस चीज़ के मुताबिक अला हसीमा उस चीज़ के मुताबिक यकतजील अकल जिसका अकल तकाजा करती है इसका दूसरा तर्जुमा कर दिया के दलालतें अक़ल के तकाजे के मुनासिब हों फिर जैसे अक़ल तकाजा करती है कि इस तरह की दलालत होनी चाहिए और इसमें इस तरह से कलाम आना चाहिए उसी एतबार से हो ऐसा ना हो ला तवालीहा फिन्नुतकी वज़म न ये के फिनुकी कलिमात में और वज़म बाजिया इलाबाजिन उनमें से बाज़ को बाज़ के साथ कई समय तफक किसी भी तरह मिला देने में सवालिया पैदा से हों ना के फिनुत्की कलीमात में वजमनी बाज या इन बाद कलीमात को बाद कलीमात के साथ मिलाने में कई समय तफक कैसे भी हो यानी जैसा भी इतफाक हो कैसे भी हो सवालिया क्या हो पेदर पे हो यानी कैसे ही कलिमात को जोड़कर इधर से उधर और बस कलिमात को जोड़ दिए और कलिमात को जोड़कर बेदर्द पे कलाम पेश कर दिया ये क्या है नज्म है नहीं ये नज्म नहीं है नज्म कहते हैं कि जो तरीक़े से हो सलीक़े से हो और उसके अंदर मानी की इल्म मानी की बलागत की रियायत की गई हो दलालतों की सबकी रियायत की गई हो कहाँ दलालत मुताबिक लानी है कहाँ दलालत तवमुनी लानी है कहाँ इतजामी लानी है सबकी रियायत की गई हो पूरे फसाहत व बलागत के अंदर हो इसको कहते हैं नव हाँ। अरे कुछ पल्ले में बात चलो ये तो हुई ये तो हुई अब से पहले के सबक की बात अब आज का सबक सुन लो देखो इससे पहले जो ये मुसनफ जिक्र कर रहे थे तो ये इस बात को बयान फरमा रहे थे किस चीज को बयान कर रहे थे यहाँ पर फलम्मा कान इल्मबलागती व इल्म तवाबिहा मिन अजलूम कदरन वादसिया सदन कि यहाँ पर इस बात को बयान फरमा रहे थे कि मैंने इस इल्म को क्यों मुंतखब किया इस इल्म को क्यों छाटा आखिर इसके अंदर ऐसी क्या खास बात थी तो वो खास बात इन्होंने बतला दी कि इस इल्म के अंदर ये खास बात थी कि यह अजलूम में से है और अदब में से है आगे अब وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه القاضي العلامة أبو يعقوب يوسف يوسف السكاكي رحمه الله تغمد الله यहाँ से इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि मैंने इस किताब को ही क्यों लिया मिफ्ताहलूम किताब और उसका जो तीसरा क्या था तीसरी कस्म है जिसके अंदर इल्म बान इल्म मानी इल्म बयान और इल्म बजे का जिक्र है तो मैंने इस किताब के ही इल्म मानी इल्म बजी और इल्म बयान को क्यों मुंतखब किया उसी में उसी को सामने रखकर और उसी को लेकर मैंने अपनी किताब तैयार की है ऐसा क्यों किया समझ बस मैंने उन्हीं की किताब को क्यों लिया और उन्हीं की किताब को लेकर उसी के अंदर मैंने तहजीब की काट छाट की और अपनी एक किताब तैयार की ऐसा क्यों किया उसकी वजह यहाँ से फरमाई जा रही है वकानल वकान القسم الثالث من الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي رحمه الله तकमदल्लाफ़रानी शारकुल फरमा रहे और किस्म सालिस मफ्ताहलूम की और उस मफ्ताहलूम की किस्म सालिस जिसको तसनीफ किया फाजिल अल्लामा अबू याकूब यूसुफ का की अल्लाह ताला उनको अपनी मगफिरत में ढाप ले अपनी रहमत में ढाप ले आज़ामा मा सुन्निफा ही मिनल कुतुबिल मशहूरती नफ़ान मतन मतन आज़म मा सुन्निफा ही मिनल कुतुबिल मशहूरती नफ़ान वो अजीम थी बड़ी थी ज़्यादा बड़ी थी किसे नफ़ान नफ़े के एतबार से कौन सी किताबों में से माँ सुन्निफा फी जो इस फन में मशहूर किताबें तसनीफ की गई हैं माँ सुन्नी ही मेरल कुतुबिल मशहूरा जो इस फन में मशहूर किताबें तस्नीफ की गई हैं उनमें रफिया के अतबार से ज़्यादा अजीम थी ठीक है अच्छा भाई यूसुफ अस्सक्काकी सक्काकी मैंने बताया था उसके अंदर किसमें अरे उसमें क्या है वो मिफ्ताम की क्या है वो जो तलखीस है तलखीसमफ्ता तलखीसमफ्ता में बताया था सक्का की क्यों कहते हैं इनको सक्का की एक जगह की तरफ मंसूब है नीशापुर के आठ नंबर आज से देखियो आठ नंबर आज से आज सक्का की यू नस्बतन इला सक्का का सक्का की तरफ नस्बत है करियत निशापुर ये निशापुर का एक गांव है इसके अलावा और भी कौल हैं वकीला बिल इराक़ वकीला बिल यमन की इराक़ का है यमन का है और इसके अलावा एक ये भी है कि ये पेशे की तरफ नस्बत है कि इनके यहाँ पर चांदिया या सोने को ढाला जाता था उसके सिक्के वगैरह बनाए जाते थे कुछ काम इस तरह का होता था तो इस वजह से इनको सकाही कहा जाता है वल्लाह आलम अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्यों कहा जाता होगा कहा किसी भी वजह से जाते हो हमें तो फन पढ़ना है माँ सुन्नी पी ही अरे अजीम तरीन किताब थी ये ठीक है नफे के एतबार से माँ उन मशहूर किताबों में जो तसनीफ की गई है किसमें फी ही ही में अरे किसमें फी ही आई पी इल्म बलागती व तवाबी इलम बलागत और इलम बलागत और उसके तवाबे में और उसके तवाबे से मुराद है इलम बदी जो के वाहिद है और इसकी वजह बदलाई जा चुकी है जिसको शायद तुम भूल चुके होंगे याद है क्या है भैया अरे वो उमूर जो उसके अंदर आते हैं तो उमूर चूंकि जमाए बहुत सारी चीज़ें मुहसिनात मानविया मुहसिनात लफ्जिया वगैरह तो वो बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से यहाँ पर तवाब जमा लेकर आए हैं मिनल भी मशहूर बयानिमा सुन्नफा नफ़ान मिनल कुतुबिल मशहूर किसका बयान है माँ सुनिफा का बयान है तो आज़म माँ अजीम है अजीम है माँ अ मिनल कुतुबिल मशहूरा उन मशहूर किताबों में थे जो तसनीफ की गई है तो ये मेरा कुतुबिल मशहूरा या बयान है किसका मा सन्नीफा का अरे लिमा सन्निफा का ना कह दियो बयान और लिमा सन्निफा ये लिमा सन्निफा का बयान है अरे किसका बयान है मा का बयान है नफान नफे के एतबार तमीजुम मिन आज़मा ये तमीज़ है किसकी आज़मा की इसीलिए हमने तर्जुमा वहाँ से पहले यहाँ को खींच कर किया अच्छा भाई लिखाओ नहीं अलस्म सालिसी अहसन अहसन मशहूरती तरतीबन हुआ वज़ुकुल्लिशन फ़ी मरतबती ही व लिकौनी अतमना तहदीरन हुआ तहजीबलकलामी व अक्सर अई अक्सर अलकुतुबी हुआ मतलब बेमहसूफ़ी फिर जमात यहाँ से इसके मंतखब करने की वजह बयान फरमा रहे हैं ये जो किताब है मिफ्ताहलूम की किस्म सालिस इसको मैंने क्यों लिया है इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं कहते हैं किस्म सालिस के अहसनाहा तरतीबन तरतीब के अतबार से अच्छा होने की वजह से क्योंकि ये तरतीब के अतबार से अच्छी थी इसके अंदर जो मुसनफ़ ने कलाम किया है और जो बयान फरमाया है लिखी है वो बड़ी अच्छी तरतीब से लिखी है आहसनाहा आई आहसन कुतुबिल मशूरा कि मशहूर किताबों में से ये बेहतर है तरतीब के अतबार से तरतीब किसको कहते हैं अरे तुम्हारा कमरा तो बड़ा तरतीब से है बड़ी अच्छी सलीके से और तरतीब से रखा हुआ है यानी हर चीज़ को उसकी जगह पर रख देना हुआ वजुल्ली से इन फी मरतबती ही वो हर चीज़ का उसके मरतबे में रखना है उसकी जगह पर रखना है वह लिखा दूसरी वजह और उसके अतम नहा तहरीरन तहरीर के अतबार से अतम होने की वजह से क्योंकि ये तहरीर के अतबार से यानी तहजीब के अतबार से काट छाट के अतबार से क्या थी अतम थी इस वजह से मैंने इस किताब को लिया है सामने रखकर इसकी तलखीस बनाई है हुआ तहजीबुल कलामी अरे तहरीर के माना क्या है तहजीबुल कलाम कलाम को महजब करना उसमें जो फालतू चीज़ें हों उसको काट छाट करके दुरुस्त करना वह अक्सर रहा अक्सर कुतुब असूली और अक्सर रहा उनमें से अक्सर है यानी किताबों में से अक्सर है ज़्यादा है किसके एतबार से लिल उसूल के एतबार से कि इसके अंदर कवायद ज़्यादा है इस वजह से मैंने इस किताब को मुंतखब किया लिया उसूल हुआ मुतल बमहजूफ़िन युफसर कौलह जमान ये उसूल जो है लिल उसूली लाम हरफ जर अल और उसूल क्या है मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुतल होगा यहाँ पर इससे पहले जमान मानना पड़ेगा जमान लिल उसूली आगे फिर मतन आ रहा है जमान तो ये लिल उसूली लाम हरफ जर उसूल मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुतल यहाँ पर जो महसूफ हम मान रहे हैं जमान उसके हो जाएगा फरमाते हैं हुआ मुतल उसूल मुतल है बिमहजूफिन एक महजूफ के जिसकी तफसीर मुसनफ़ का फौज जमान कर रहा है तो देखो अक्सर उसूली जमान वो किताबों में ज़्यादा थी उसूली जमान उसूल को जमा करने के एतबार से उसके अंदर उसूल ज़्यादा जमा थे ज़्यादा मौजूद थे लेना मामूल अलमस्तरी ला यतकदम अलही यहाँ पर जमान को लिल उसूली से पहले क्यों मान रहे हो जो आगे आ रहा है उसी को ही उसी के मुतालिक कर देते कहते हैं इसलिए कि मस्तर का मामूल उस पर मुकदम नहीं होता है मस्तर का मामूल उस पर मुकदम नहीं होता है मस्तर नहीं सकते हैं मजदर का मामूल इसमें मुकदम नहीं होता है जमान मजदर है और ये कमज़ोर आमिल कमज़ोर है तो इस वजह से अगर ये पहले आता उसके बाद में मजरूर आता तो ठीक है लेकिन हम इसको यूँ कहें कि उसूली को जमान जो आगे आ रहा है उसके मुतालिक कर दो उसके मुतालिक नहीं कर सकते क्योंकि कमज़ोर है कमज़ोर आमिल होने की वजह से यहाँ पर मुतल नहीं कर सकते एक बात लेकिन कहते हैं मुसनफ़ सुल्लम की तरह वलहक़ जवाज़ालूफ़ी और हक़ ये है हक बात ये है हक बात इसका जायज़ होना है ज़रूफ़ के अंदर कि ज़रूफ़ हो ज़र्फ़ के अंदर इस तरह जायज़ है क्योंकि कुछ न कुछ बो तो आ ही जाती इस वजह से इस तरह किया जा सकता था और हक उसका जायज़ होना है ज़रूफ़ के अंदर लिअन्ना मम्मा तकवी इसलिए कि वो उन चीज़ों में से है कि जिसको फ़ैल की बू ही काफ़ी हो जाती है जिसको फ़ैल की बू ही काफ़ी हो जाती है तो इसलिए अगर जमान को उससे पहले महजूफ ना माने तो भी काम चल जाएगा अगले वाले जमान से मुतल हो सकता है तो ये तो एक वैसी अलग से बहस होगी बाकी इल्म बलावत की वजह से सारी ऊपर गुजर चुकी है ठीक है राय समझ में अच्छा,